सुनु सुनुरावन परिहरिचतुराय भजसि न कृपा भयसि सिन्धुरघुराय जोखलभयसि ब्रह्मरुद्र ब्रह्म तोहि मूढवृथा जनि मारसि राम रामभयर् यश होइ हारा तब सिर निकर कपिन के आगे परिह धरन राम सर लागे अरे रावण चतुराई कपट छोड़कर सुन कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता अरे दुष्ट यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे हे मूढ़ व्यर्थ गाल न मार लिंग न हाँप श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के वाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे ते तव सिर कंदुक समनाना खिली भालू की सचौगाना जब ही समर को पिह रघुनायक छुटि हई अति कराल बहुसायक तो कि चलहि यस गाल तुम्हारा अस बिचारी भजुराम उदारा सुनत बचन रावण पर जरा जरत महानल घृत परा और रिच्छ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो कुंभकर्ण यस बंधु मम सुतप्रसिद्धसक्रारि मोर पराक्रम नहि सुनहि जित चर धारी वह बोला अरे मूर्ख कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है सठ शाखा मृग जोर सहाय बांधा सिंधु इह प्रभुताय नाघहि खग अनेक बारी सुर नर हित सुन सब की सा मम भुज सागर बल जल पूरा जह बूढ़े बहुसुर नर सूरा बीस पयोधिय गाधय पारा कोस बीर जो पाए पारा रे दुष्ट वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया बस यही उसकी प्रभुता है समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं पर इसी से वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते अरे मूर्ख बंदर सुन मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं बता कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार बीस समुद्रों का पार पा सकता है दिक्पालन भरावा भूप सुजस खल मोश सुनावा जो पै समर सुभट तव नाथा पुनि पुन कह सिजा गा गाथा तो बसी पटवत कही काजा रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा हर गिर मथन निरखु मम बाहू उनिसठ कपि निज प्रभु ही सराहो अरे दुष्ट मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयस सुनाता है यदि तेरा मालिक जिसकी था तू बार बार कह रहा है संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख फिर अरे मूर्ख बानर अपने मालिक की सराहना करना सूर कवन रावण सरिस स्वकर काट जहिशेष हुने अनल यति हरस बहु बारस खा साखी गौरीश रावण के समान सूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं